ऐसा अच्छा, वो चिंतन करता ही रहता शिष्टाल शिष्टाल तो जितना चिंतन करता है उतना का तो कोई भक्ति भी नहीं कर सकता हर समय श्री के देश के कारण हर समय श्री कृष्ण का चिंतन मानता है इसलिए निंदा करने से भगवान की निंदा करने से जो कोई पाप भी लगता था ना जो भी भगवान के चिंतन से ध्यान से वो पाप भी नष्ट हो जाता है नाम बंदे नाम प्राप्ति होगी उसमें क्या संदेश उसके लिए नारद जी उदाहरण देते हैं गीता पेशस प्रसारता विद्यायाम तमनुस्मरण संगम भयोगी न स्वरूप तत्स्वरूपता एक कीड़ा भौरी किसी की एक लाकर के रख लेती है वो भय के मारे उस भौरी का चिंतन करते रह, करता रहता है अंत में उसी का स्वरूप बन जाता है इसीलिए शिष्टाल जो है द्वेश के कारण निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता था चिंतन करते करते मृत्यु के समय भी भगवत चिंतन रहा तो भगवत प्राप्ति उसको इसमें क्या एवं कृष्णे भगवती माया मन ईश्वर दैवे न दूध प्राप्त मानस समाप्त को सुनकर इसलिए वैर के द्वारा भी चिंतन करके भगवान को प्राप्त हो गए कुछ कुछ लोगों ने तो प्रेम से चिंतन किया ऐसा ताप इसलिए है कि जो प्रेम से चिंतन करते हैं और कोई द्वेष से चिंतन करते हैं तो इनमें कुछ अंतर है कि इनमें अंतर केवल इतना है कि जो प्रेम से चिंतन करते हैं उनको जीवन में भी आनंद रहता है जीवन में उसकी प्राप्त होती पर मरने पर तो व्यय से चिंतन करने वाले को जो वस्तु मिलेगी वही प्रेम से चिंतन करने वाले को मिलेगी पर व्यय से ही चिंतन करता है जीवन में उसको शांति नहीं मिलती और जो प्रेम से भक्ति से चिंतन करता है उसको जीवन में ही आनंद प्राप्ति होती है केवल इतना ही अंतर है और उसके लिए कहते हैं देखो भूतियों में प्रेम से भगवान का चिंतन किया भगवान को प्राप्त हो गई से ने भयभीत होकर के भगवान का चिंतन किया भगवत प्राप्ति हुई इसमें शिष्पाल ने देश से चिंतन किया एक गुरु भगवान की प्राप्ति हुई कोई अपना संबंध मान करके विष्णु लोग भगवान का चिंतन करते हैं इनको भी भगवत प्राप्ति हो आप लोग स्नेह से भगवान का चिंतन करते हैं और भक्त्या भवन नारद जी कहते हैं हम भक्ति से भगवान का चिंतन करते हैं इनको भी भगवत प्राप्ति हो भक्त्या भयन विभो फिर बोलो वैन वैन क्यों नरक में गया कि जैन केवल शास्त्रों की निंदा करता था भगवान की निंदा की उसने चिंतन नहीं किया इसलिए संघर्ष हुआ और नारद जी कहते हैं ये तुम्हारा से शिष्पाल और बनभक्त हैं अरे ये तो दोनों भगवान के पार्षद हैं इनको भगवत प्राप्ति हो गई तो क्या है कि जो संपादकों के साप से यहां आए हुए युधिष्ठिर बोले भरा उनको साप क्यों लग ये क्या कारण है क्या वैकुंठ से भी फिर लौट करके आ जाते हैं भगवान ने तो ये कहा है कि यद गत्वाम थे तब धाम करूं हमारे धाम से कोई लौट करके नहीं आता और ये भगवान के धाम से भी लौट के आ गई हाँ ये विषयों के हिसाब से संकालिक विषयों के हिसाब से ये जो है तो आसरी नहीं हैं ये पहले दिल्ली के पुत्र हो गए हिरण्याक्ष और कष्टु वहां रूप से भगवान ने अपनी होकर के उनका किया और फिर ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुई वहां राम अवतार लेकर के भगवान ने उनका वध किया इसकी कथा तो मार्तंडी के रूप से गई और ये दंतवत व शिष्काल के रूप में प्रकट हुए भगवान के हाथ से इनका वध हुआ और इनको अपने स्थान की प्राप्ति हो गई अधना कृष्ण सत्य भगवान के श्री कृष्ण के हाथों से उनकी मुक्ति हुई है और सात मुक्त भूता पुनर्दार्शन जाते और ये अपने स्थान को प्राप्त करेंगे भगवान श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं नृसिंह भगवान ने मारा तब इनकी मुक्ति नहीं हुई और भगवान राम के ने मारा तो मुक्ति नहीं हुई मुक्ति होती है भगवान श्री कृष्ण की द्वारा ते पुत्री भीषण इतिहास और ने पूछा महाराज प्रहलाद तो भगवान विष्णु के भक्त थे पिता का उनसे क्यों दोष हो गया प्रहलाद भगवान के भक्त कैसे हो गए अब एक प्रहलाद का चरित्र कृपा करके सुनाइए तो उसके लिए भारत जी कहने लगे कि राजन जब बराह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया अपने भाई का पद सुन करके हिरण्य कशपू हाथ में त्रिशूल लेकर के सभा में बोला हे हरग्री हो मनुची हो विप्रचित तुम तो हमारे बातों को सुनो देखो ये शत्रुओं ने दौड़ धूप करके हरि के द्वारा मेरे भाई को मरवाया और ये विष्णु को भगवान जो इसके अंदर में करता है उसके अंतिम हो और उन्हें अपने प्रसूल से इस विष्णु का जो है सिर और उसके रुद्र से अपने भाई का कर दिया जब विष्णु नष्ट हो तो जाएगा तो देवताओं की मूल तो है सब देवता सुस्त सूख जाएंगे वृक्ष भी जैसे जड़ता हो तो जैसे वृक्ष सूख जाता जाओ तुम लोग पृथ्वी तो पर चले जाओ तप व्रत यज्ञादि से युक्त जो ब्राह्मण हैं उनको तो नष्ट करो ना कामज्ञा ध्रुवम यूयम वित्त क्षत्र समेतता जहां ब्राह्मण क्षत्रिय याद करते हैं वहां चले जाओ और तप तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रत दान जो ब्राह्मण तप करते हैं स्वाध्याय करते हैं व्रत करते हैं वो तो मार और विवरण का शुभ कहते हैं जो हमारे साथ ही है ब्राह्मण शराब पीते हैं और युवा खेलते हैं मुझे खोलते ऐसे लोगों की जरूरत विष्णु खबर क्रिया मिलो यज्ञो धर्म वर्तमान देवस पुत्र धर्म से जहां गऊ रहती हैं ब्राह्मण रहते हैं धर्माश्रम धर्म को मानने वाले रहते हैं उन उन देशों में जाओ और वहां आग लगा दो वृक्षों को काट दो पुलों को तोड़ दो धर्म दृष्टि में तुम्हें जा दी तो राक्षस वही काम करने लगे तो उन्होंने पुलों को तोड़ दिया वृक्षों का को नष्ट कर दिया आग लगा दी राजानाम बिल्कुल रूपयी इस तरह से वो उसमें ये अत्याचार करने लगा ग्रहण कृष्ण और फिर मृतक जो अपना भाई था हिरण्याक्ष उसकी जो है ऊर्ज क्रिया करके और जब घर आया तो देखा घर में बड़ा विलाप हो रहा था सब लोग दुखी हो रहे थे माता दिति उसकी बहू जुफा भानु और उसके बच्चे मातरम उषा भानु दिति से जननी गिरा वहां करके हिरण कष्टो को समझाने लगा दिग महाजनेश्वर माता अपने पुत्र के लिए रो रही थी उसकी स्त्री अपने पति के लिए रो रही थी छोटे छोटे बच्चे हिरण्य हिरण्याक्ष जो अपने पिता हैं उनके लिए रो रहे थे हिरण्याक्ष के मरने से सारे घर में शोक छाया और हिरण्य कृष्ण आया तो वो सबको दुखी देख करके हिरण्य कृष्ण समझाते हैं अम्बाम्ब बहुत उत्साह दो महिला दो बहून हे बेटाओ तुम हमारे हमारा जो भाई बहने पशु है उसके लिए शोक मत करो हमारे शत्रु से लड़ते हुए युद्ध में शरीर को त्यागना ऐसा तो भी लोग चाहते ही तो हमारा भाई तो जैसी गति चाहता था वैसी गति उसको मिल गई तो जब वो रघुकेश लाग्या सूराणाम बदरीप्तता सूर्य लोग तो ऐसे ही चाहते अपनी मिलती हमारा युद्ध करते करते हमारा शरीर मालूम हुआ है शत्रु के सामने लड़ते लड़ते हमारा शरीर पूरा तो हमारा भाई जैसा मृत्यु चाहता था उसको वैसी मृत्यु मिली है उसके लिए तुम क्यों शोक करते हो सोचनीय नहीं पर सुन रहा हूं सोचिए भविष्य कर्पण खंडीना अरे शोक करने के लिए लायक क्या हो और लोग होते सोचिए यति प्रपंच रख और वो संन्यासी भी ये शोक करो जो प्रपंची है जिसे शांति नहीं है प्रकृति अच्छा वो तो हिरण्याक्ष तो जैसी मृत्यु चाहते थे वैसी मृत्यु मिल गई पर हमारा संबंधी से तो संबंधी तो हमसे अलग हो ही गया प्रकृति पर ये तो एक दिन अलग हो गई संयोगा पुत्र होगा हमका जो हम एक जगह मिलकर बैठे हैं संयोग में है उनका संयोग वालों का वियोग तो नहीं ऊर्जान्य संदासा प्रकायामिव सुकृते दैवेन तत्र गीता स्वकर्म भी हमारा आपस में मिलकर के रहना इस तरह से समझो जैसे एक प्याऊ के ऊपर पानी पीने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो अपना अपना पानी पिया और चलिए कोई पूरब को जाता है कोई पश्चिम को जाता है कोई उत्तर को जाता है नित्य है शुद्ध आत्मा नित्य है अव्यय है शुद्ध है सर्वत्र व्यापक है सर्वसाक्षी है उसके लिए क्या शुद्ध जीवा करणा संस्कृति प्राप्त होती तस्मात करणा कृतम सर्वनिमुक्त शोकम माफ होता इसलिए उसे उसके लिए क्यों शोक प्रश्न देवई गुणे ब्राह्मणारे मनस्तरकलापन जैसे जल के चलने पर मनुष्य वृक्षों को चलता मानता आप नाव में बैठना और नाव चलेगी पानी में और जो वृक्ष है तट के ये मालूम करेंगे वृक्ष दौड़ रहे चल इसी तरह से मन जब विश्व में भटकने लगता है तो उस समय अपना आत्मा भी चंचल जैसा मान मालूम होता है व्याप्त काम पत्रे जलंगो लिंगवाणी होती हिरण्य खुशबू कथा माता जी को हम तुमको एक बहुत पुराना इतिहास सुनाते थे अर्थात उदाहरण इतिहासम पुरातनम पुरानी बात और हिरण्य कशपू जब अपनी माता को समझा रहा है यही बहुत पुराना है और उस माता को पुराना इतिहास सुना तो देश का एक राजा था दूसरे राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया तब तो आपस में युद्ध होने लगा और उसी देश का जो राजा था समय उसकी मृत्यु हो एक शत्रु ने एक ऐसा बाण मारा सारा निर्भिन्न हृदयाम बाण से उसे उसका हृदय फट गया पृथ्वी में गिर गया तो उसके शिव के बाल खुल गए आंखें भीतर को चली गई और वो अपने दांतों से ओटों को दबाए हुए था उसके मुंह में फूल भर गई दोनों हाथ उसके कट गए थे ये दशा उस राजा की वो धूल में पड़ा मरा हुआ पड़ा और उसके बाद उसकी रानियां उसके संबंधी आकर के घेर के बैठ गए हाहाकार करने लगे हताश मनाते करे गुरु शाम रानियां आकर के बोले हम ही बंदी हम तो मृतक के साथ जोर जोर से रो रही थी सुनता करो अरुण करंदन सुनकर के जो सुनता था उसका भी हृदय द्रवीभूत हो गया प्रणाम है सुचम प्रणाम सज्जनत्य आप गदनया विजय दूसरे मनुष्यों के हृदय में भी शोक उत्पन्न करती हुई विलाप करने लगी क्या कह रहे हैं अहो विधाता करुणी न प्रभो भवान प्रणीतो दृढ़गोचराम दशाम अरे हो विधाता तेरे को तो करुणा नहीं है तेरे को दया नहीं है विधान बनाने वाले को तो दया भी होना चाहिए विधाता परमेण नम प्रभु भगवान प्रणीतो जगदोचरा दशाम और हमारे जो पति ने हमारी दृष्टि से अगोचर कर दिया जो उसी देश के जो है जिस जो सब उसीनर ने उनको वृत्ति प्रदान करते थे आज उनकी ये दशा राजन हमारी थोड़ी की ही सेवा को आप बहुत मानते थे और आपके बिना हम कैसे रहेंगे इसलिए जिस दिशा में जहां को आप गए हैं वहां आने की हमको भी आज्ञा दीजिए तत्काज्ञानम तब वीर दो शुश्रूषती नाम विषय प्रयास इस प्रकार अपने पति के शरीर को पकड़ करके रानियां बिलाप कर दी अब सायंकाल होने वाला है संबंधी लोग उसके मृतक शरीर को स्मशान में ले जाना चाहते हैं और वो छोड़ती नहीं ये दशा देख करके यमराज ने देखा अरे ये तो बड़ी दुखी हो रही है अपने पति के मृतक शरीर को नहीं ले जाने देती स्मशान में तो स्वयं यमराज बालक बन करके वहां पर रखते छोटे से बच्चे का रूप करिए और आकर के बच्चे के रूप में प्रकट होकर के बोले अरे अरे देखो तो सही अरे अमीशाम वैसाधिकाम अरे ये हमसे अवस्था में सब बड़ी है अरे देवियों तुम अवस्था अवस्था में हमसे अधिक हो और रात दिन प्राणियों को मरते हुए देख रही तुम्हारे सामने कितने लोग मर गए तुमने देखा नहीं है क्या अरे यथा गतस तत्र गतम मनुष्य ये जीव जहां से आया था वहां चला गया और स्वयं सधर्माती और तुम भी तो मरने वाली हो तुम कौन अमर हो क्या मरने वाले को तो वो रोए कि जिसको स्वयं मरना नहीं जब हमको स्वयं मर नहीं है तो हम मरने वाले को क्या रोग हम्म? स्वयं सधर्मा को शोषण चता और तुम स्वयं भी मरने वाले हो तो मरने वाले की भी शोध करोगी वयम अहो वयम धन्य तमाय अरे तुम लोगों से तो हम अच्छे बालक हैं तो क्या हम्म? त्यक्ता पितृत्वाम न विचिंतन हमारे माता पिता तो छोटे बचपन में ही हमको छोड़ करके मर गए हमने तो कभी आंसू नहीं बहाया उनकी हम तो नहीं हो त्यक्ता पितृभ्याम न विचिंतयाम अवक्षमाणा घर और यहां जंगल में रहते हैं और यहां सब सिंह व्याघ्र भी रहते हैं पर किसी ने हमको खाया नहीं किसी जंगल के जीव ने भी हमको नहीं मारा किसने रक्षा की कि रक्षिता सरक्षिता रक्षती वो करते गर्भ में जिसने हमारी रक्षा की थी वो अपनी हमारी रक्षा करता ये अरे ये भगवान की खिलौने खिलौना खेल है यैषा सृजती मध्ययोग रक्षक करणम सदेश तो भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं इसको पालन करते हैं इसका संहार करते हैं तो भगवान का तो खेल है और तुम लोग रो रहे हो कोई अपना खेल कर रहा है उसमें तुम रो रहे हो क्रीजन मारो ये भगवान का खेल है रोने की क्या बात है पठितुतम तिष्ठत तिष्ट रक्षितम देखो किसी की वस्तु रास्ते में गिर जाए और भगवान रक्षा करना चाहें वो किसी की दृष्टि नहीं लग जाती और वही उसको मिल जाती पठितुतम तिष्ठत दिष्ट रक्षितम और ग्रहेष्ठतम तब विवेकम की और तिजोरी में रखी है घर के भीतर बाहर पहले रहे हैं अपनी तरफ से कोई सुरक्षा है तो जब भगवान उपेक्षा कर रहे हैं तो बोलो वहां से भी चली जाए रास्ते में चौड़े में पड़ी हुई वस्तु आपको मिल जाएगी अगर भगवान चाहें तो। किसी की दृष्टि नहीं करें और घर में रखी हुई ये वस्तु वहां से चली जाए प्रतिचितम तिष्ठति रक्षितम ग्रहे स्थितम तब विहतम विनश्यति जीवत्यना विपरीक्षित मुझे ग्रह विभुक्तो से हतो होती फिर डॉक्टर हमें गांव में वो कहता महाराज हम बारी बारी से सोचते कुछ देर मैं सो लेता था उसके बाद हमारी स्त्री जलती और एक कुत्ता हम रखते थे तो थोड़ी भी कोई कहीं खटखट हो तो कुत्ता तैयार रहता था और जिस दिन चोर आए हम भी सो गए स्त्री भी सो गई और कुत्ता कुछ नहीं बोला सारे सब सूरज जा राम लोग इस प्रकार कौन हमें आकर के यमराज ने बादशे के रूप में आकर के ये उनके सामने कह रहे अरे वो हिंदू मूर्ख हो यमन सोचता स्वयं स्वयं के क्षेत्र अरे जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ था हो वो, वो शरीर तो ही पड़ा तो है तुम्हारे साथ या तो कहीं सुनते नहीं बोलते नहीं कि जो श्रोता वक्ता था उस, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है यह श्रोता वक्ता तथा तरहचिम न दृश्यते हो तो कभी तुमने देखा ही नहीं उसको सैवम आत्मा देहा भिन्न तस्मात में नित्यम आत्मान अनित्यम देहम का न शोचन अथ नित्यम अनित्यम का मेघ शोचन की तद्विदा इसलिए जो विवेकी होते हैं वो नित्य आत्मा के लिए भी शोक नहीं करते कि आत्मा को तो नित्य है ही और शरीर और शरीर तो एक दिन नष्ट होना है इसके लिए क्या रोना शोक के लिए कोई अवसर नहीं है विचार की दृष्टि विचार की दृष्टि प्राप्त होती है जीव को तो किसके लिए शोक कर वो हैं लगे देखो हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं सुनो तो बालक के रूप में युवराजे कहते जो तो इतिहास सुनो देखो एक पक्षियों का जोड़ा रहता है कुलंगी जो स्त्री जाति पक्षी थी वो गवेंद्रिय ने उसको जाल में फांस ली और जो पुरुष जाति का पक्षी था वो डाली पर बैठा हुआ वो करवा करने लगा दुखी होने लगा अरे मैं छोटे छोटे बच्चों का कैसे पालन करूंगा स्त्री के बिना पक्षहीनान मातृहीनान बालान कदम विभरणी इन बच्चों के पंख नहीं आए हैं इन बच्चों को मैं कैसे पालन करूंगा ऐसे उस अपनी स्त्री के लिए विलाप करना बस बहेलिया ने प्राण मारा उसको भी जाल में डालेंगे इसलिए वो बालक कहता है नमराज कहते हैं अरे इस तरह से तुम अपनी मृत्यु को नहीं देख रही हो और मरे हिंदू के लिए रो रही हो एवं दूयम स्वमृत्यु पश्यंता अपनी रात को नहीं देखती तुम भी एक दिन तुम्हारी यही दशा होने वाली और इस तरह से सुन सौ वर्ष तक भी रोती रहोगी क्या अरुण जीवित होने वाला क्यों रोती हो जब उन्होंने ये कहा तब उनका शोक गए एवं बाले बजट सती स्त्रिया गया सर्वम नशा में तब उन्होंने इस बात को ध्यान से सुना और कहा वास्तव में संसार नशा है झूठा है गुणों शोक छोड़ दिया तस्मात गयन शोकम मात्र तो हिरण्य कष्ट कहता है इसलिए माता जी हमारे भाई हिरण्य कष्ट हिरणाक्ष के लिए तुम शोक मत नारद जी कहते हैं ये जब जति ने हिरण्य कष्ट के उपदेश को सुना तो पुत्र शोकम त्यक्ता तत्व चित्त महा दधाव अपने पुत्र का शोक छोड़ करके भगवान का ज्ञान चिंतन करने लगे द्विति नारद जी बोले हे युष्ठ इस प्रकार हिरण्य कश्यू जो है अपनी माता को उपदेश दे करके उनको समझा करके और वहां से आए और उन्होंने अजर अमर होने के लिए तप करने का निश्चय किया यदि भी अभी उपदेश करके आए हैं कि आत्मा का नित्य ही है और शरीर तो अनित्य है हिरण्य कष्ट ने उपदेश किया है उसमें कोई कमी नहीं है परमात्मा लोग कहते हैं कि दैत्यों का जो ज्ञान होता है दूसरों को उपदेश करने के लिए होता है वो अपने को नहीं समझा सकता कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि दूसरे को समझाने के लिए तो बड़े कुशल होते हैं और जब उनके ऊपर कोई घटना बीतती है तब उन्हें समझाने कोई दूसरे आते हैं वो अपने को नहीं समझा सकते तो अजर अमर होने के लिए वो मंगलाचल पर्वत की घाटी में जाकर के तब परिणाम हुआ ऊर्ध्वा और नवो दोनों हाथ ऊपर को कर दिए आकाश के ऊपर दृष्टि लक्ष्य भी ऊंचा और एक पैर से हम पैर के ऊंचे से खड़े होकर के